साधु जाने गुरु सेवा कहाँ मूढ़ पिछाने गुरु सेवा सब हम पर भारी समझ कर ば गोरखनाथ जी अपने पुराने चेलों के बीच बैठे थे बोले देखो इतना बड़ा सम्राट है आश आया है आश्रम में समर्पित हुआ है लेकिन तत्परता कितनी है उसके लिए कोई काम कोई सेवा छूटी नहीं है कुछ भी कहो अथवा कुछ भी सेवा होती तो खोज लेता है तो पुराने सेवकों को अब जरा सीनियरों को जूनियर तो ऐसे ही लगता है सीनियरों के बीच एक जूनियर आ जाए और जूनियर की प्रशंसा करे गुरुदेव तो सीनियरों को अच्छा नहीं लगता वो तो टांग खींचते मेरी भी खींची मेरे को जूनियर समझ के सीनियरों ने खूब मेरे को भगाने की किया था यहाँ भी ऐसा होता है थोड़ा बहुत होता है हाँ। तो कानाफूसी हो रही थी बोले क्या बात है बोले गुरु जी वो तो अभी आए हैं ये तो रात छोड़ के आए इसलिए बड़े आदमी दिखते हैं तो उनके गुण देखते हैं परीक्षा हो तो पता चले गुरु ने देखा कि अभी ये अपने को सीनियर समझते उसको जूनियर समझते कहाँ है बोले वो अपनी कुटिया में दोनों पे ध्यान व्यान लगाते होंगे भरतरी को बुलाओ भरतरी आ गए महाराज हमारे आश्रम में नियम है कि कोई भी नया चेला आए कुछ दिन भंडारे के लिए वो बबुल के जंगल में जाए और लकड़ियां कर गया है जी महाराज पता नहीं था क्षमा करें उठाई कुहाड़ी गए जिसने पानी का गिलास हाथ से नहीं भरा वो कुहाड़ी उठाए और जंगल में जाए वो नंगे पैर पुराने चेलों को कहा क्यों लकड़ी का बोझा लेके आता हो तो रास्ते में जो एनीकट बने हैं वहीं से आना पड़ता है छोटी मोटी बरसाती नालों को पानी थामने के लिए जहाँ एनीकट बने हैं जब वहाँ से आता हो तो एक तरफ पानी होगा दूसरे तरफ खद्दा होगा वहाँ तुम जाके उनको धक्का मार लेना जरा वो खुश हो गए कि हाँ, हाँ अभी ठीक है जूनियर कल का वो बोले मैं चलूँगा बोले मैं चलूँगा हमारे ऊपर कल का आया जूनियर और गुरु जी का इतना क्लोज हो जाए किसी को पसंद नहीं था आ रहे थे और जो सब में ज़्यादा सीनियर था उदंड था उसी ने आगेवानी की चार पांच चेलों में भरतरी को ऐसा धक्का मारा कि वो लकड़ी एक तरफ भरतरी दूसरे तरफ शांत होके उठे कि प्रतिकूलता आई है इन्होंने जानबूझ के किया कि अनजाने में किया जो हो गया सो हो गया अब मैं गुस्सा करूं और लड़ूं झगड़ूं या शांत रहूं मेरे हाथ की बात है क्योंकि मैं चेतन हूं गुरु जी ने सत्संग में समझाया है भरत सम हो गए अपना उठाया और क्षत्रिय तो थे लकड़ी का गट्टा रखा चल दिए वो पुराने चेले देखते रह गए कि गुस्सा भी नहीं आया कुछ बोले भी नहीं वास्तव में गुरुजी बोलते थे कि ये समझदार व्यक्ति है समझ से ही काम क्रोध लोभ मोह दृश्य होते हैं और दृष्टा अपने आत्मा में आता है इसके लिए मेहनत नहीं है सावधानी है गुरु सानिध्य गुरु सेवा और सावधानी बस हो गया और जब और कठिन नहीं है हम भरतरी ने कर लिया अरे लेकिन ये तो क्या है वो जानबूझ के क्रोध नहीं किया इज्जत खराब होगी गुरु जी को गलत रिपोर्ट जाएगा देखेंगे अब कितनी देर इनका रहता है गुरु जी ने पूछा कैसा रहा बोले कुछ बोले तो नहीं अपने आप गट्ठा उठा के पहुंच गए तो फिर चेलों ने कहा कि ये तो एक आधी परीक्षा से क्या होता है कड़क परीक्षा ली जाए तब पता चले कि भगवान के लिए आए हैं कि संसार को तुच्छ समझ के ऐसे ही शांति के लिए आए सचमुच ईश्वर प्राप्ति के लिए आए हैं कि थोड़ा फ्रेश होने के लिए आए बाद में पता चलेगा गुरु जी चले बहुत हैं कसौटी होगी तो भाग जाएंगे देखें सचमुच ईश्वर के लिए आए तो टिकेंगे बाकी तो <laughs> गुरु जी आशीर्वाद देते रहना चल पड़े नहीं नहीं ये ईश्वर प्राप्ति के लिए आया है पक्का है गुरु जी कुछ परीक्षा कठिन परीक्षा हो तब पता चले उस दिन जो कुछ सप्ताह पहले जंगल में भेजा गया था वो तो एक दिन की परीक्षा थी एक दो महीने की परीक्षा हो जाए भारत को बुलाओ भारत नाथ संप्रदाय का ये नियम है कि नंगे पैर मरुभूमि में यात्रा करे एक कंथा बांधे टाट या तो लंगोट या तो टाट भिक्षा पात्र और कुछ न रखे और छाया में पैर गया तो विफल हो गया छाया छाया की गुलामी न करे शरीर छाया मात्र उसको छाया में ले जाना क्या है तितिक्षा तो तितिक्षा जो आ गया महाराज मुझे आपने अपना माना है मरुभूमि में चलते गए बैसाख जेठ आषाढ़ गर्मी अप्रैल में फफूंदे फोड़े होते फूट जाते जिसने कभी गलीचे से पैर नीचे नहीं रखा वो मरुभूमि में पैदल जाए तो कोमल पैरों में खोल लेकिन भागने का नहीं सोचता कुछ दिन बीते गोरखनाथ ने ध्यान लगा के देखा उन चेलों को लिया अलग रास्ते से पहुंच गए कि देखो वहां से वो आ रहा है वो मरुभूमि पाने हाँ गुरु जी आ रहा है अब देखो मैं योग बल से पेड़ पैदा कर दूंगा यहाँ तो कोई उसको देखने वाला नहीं है तो गुरु की आज्ञा मानता है कि सुविधा का गुलाम होता है जो सुविधा का गुलाम होता है वो भगवान को क्या पाएगा गुरु की आज्ञा को गुरु के सामने पाले और गैर हाजिरी में चकमा दे जाए तो वो तो मन का गुलाम है गुरु का भक्त नहीं है मैं गुरु जी के चरणों में समर्पित हुआ गुरु जी ने कहा जा डीसा रहो अब डीसा और अहमदाबाद तो दो घंटे का रास्ता सात साल में मैं तो सत्तर बार जाके आता लेकिन एक बार भी मैं नहीं गया सत्तर मिनट भी नहीं गया सत्तर सेकंड भी नहीं गया हाँ डीसा से नर्मदा किनारे लालजी महाराज और एकांत में जाना होता तो गुरु जी को चिट्ठी लिखता तो आज्ञा आती तो भले जाओ तो फिर अहमदाबाद में स्टेशन में बदलनी पड़ती थी गाड़ी तो चला जाता अथवा कहीं अब भी आज शाम को गए और कल सुबह की गाड़ी है इंटीरियल की तो हर गोविंद पंजाबी था मेरा मित्र उसके जब भी मुझे जाना होता तो उसका ऊपर का जो टेरेस पे जो मकान था जो ऊपर की फ्लोर थी वो किराएदार खाली करके चले जाते थे वो बोले जब भी तुम जाते हो दो तीन बार ऐसा वो किराएदार खाली उनको करता है और तुम्हारा पत्र आता है कि मैं शायद गाड़ी बदलना पड़े तो रात को रुकूंगा या दिन को तो है जगह तो हम तो खुश हो जाते हैं क्या है हाँ, चाहे तो अपन मित्र के घर बुला सकते थे माँ को पत्नी को अपने घर जा सकते थे चुपके से वो कोई गुरु जी को नहीं बताते लेकिन गुरु केवल बाहर नहीं है अंतरात्मा भी तो गुरु दीक्षा से गुरु के साथ जुड़ा है अंतरात्मा भी तो नालत देगा गुरु के साथ धोखा करो तो अंतरात्मा क्या खुशी देगा धन्यवाद देगा गुरु का बल जगेगा क्या तो ऐसे भरतरी भी अंतरात्मा गुरु दीक्षा के बाद गुरु तो अंतरात्म रूप में साथ में है तो पेड़ पैदा किया तो पेड़ की छाया भरतरी के पैरों में आई तो ऐसे कूदे जैसे अंगारों पे पैर लग गया छाया पे पैर नहीं आना चाहिए गुरु ने कह रखा था एकाएक पेड़ कैसे हो गया यहाँ भरतरी की गुरु भक्ति और संयम देखकर गोरखनाथ प्रसन्न हुए चेलों का काला मुंह हम मुंह नीचे हुआ बोले फिर आगे देखो मैं योग शक्ति से कुछ सुंदरियां भेजता हूँ उनकी सेवा में न सुंदरियों से नफरत की न सुंदरियों की सेवा में बेकारी में तो सब देख के आए थे गंदगी ऐसे करते करते करते करते बहुत दिन गुप्त रूप से भरतरी के आगे पीछे में से जाते बोले चलो अब उसके यहाँ बोले भरत गुरु महाराज दंडोत हम तुम्हारी सच्चाई पर प्रसन्न है तुम्हारी तितिक्षा त्याग पर प्रसन्न है आश्रम में तुमने सेवा करते समय भी जो स्वार्थी होते हैं बोलते मेरी ये सेवा है फलाने की ये सेवा लेकिन सत्य शिष्य जो भी सेवा मिलती है कर लेता है जो सेवा बांट के अपनी सेवा करते दूसरे की सेवा हमारा क्या वो तो कुशिष्य है तुम कुशिष्य में नहीं हो सतशिष्य में उत्तम सेवक सेवा खोज लेते हैं मध्यम को संकेत करना पड़ता है कनिष्ठ को आज्ञा करनी पड़ती है और कनिष्ठतर सामने सेवा करे बाकी छटक जाए तुम ऐसे फोर्थ क्लास थर्ड क्लास नीच नहीं हो अवल नंबर के सत सत शिष्य हो गुरु की सेवा साधु जाने गुरु सेवा क्या मुंड पिछाने हम तुम पर खुश हैं जो मांगो दूंगा तुम्हारा राज वैभव जो छोड़ के आया हो वो पहले से भी कई गुना हरा भरा महाराज क्या अपराध क्या फिर दल दल में भेजने की सोचते हो मैं आपके चरण में हूँ महाराज जो मौत के बाद साथ में नहीं चलेगा जीते जी छोड़ने की कोई सुबुद्धि आपने दी फिर मैं उल्टी किया हुआ चाटने जाऊं अच्छा तो फिर ऐसा करो मेरे कई आश्रम में एक दो आश्रम के मालिक बना देता हूँ ठाठ माठ से रहो बोले गुरु जी अष्ट सिद्धि ले लो नौ निधियां ले लो बोले गुरुदेव ये रिद्धि सिद्धियां भी संसार की सत्यता में फंसाएगी मुझे तो आपकी प्रीति प्रेम आवक्ति भारत हमारा ये नियम है भगवान अथवा गुरु कोई वरदान देता हो तो उनको ठुकराना भी अपराध माना जाता है चाहिए चाहे ना चाहिए कुछ भी मांगो कुछ तो लो हाँ महाराज जी दीजिए दीजिए ये झाड़ी में टाट फट गया ना तो ये सुई है और ये धागा है सुई में धागा परो दीजिए बस पकड़ के गले से हृदय में लगा दिया है फकीरी की तो ऐसी की सब जर लुटा बैठे अमीरी की तो ऐसी की सब राज्य लुटा बैठे फकीरी की तो ऐसी की गुरु के हृदय पे आ बैठे मेरे हो गया साक्षात्कार फिर विचरण करते करते ऋषिकेश से ऊपर नीलकंठ है नीलकंठ लोग दर्शन करने जाते हैं अभी तो सड़कें बनी पैदल पगडंडी नीलकंठ की पहाड़ियों में कहीं बैठते ध्यान लगाते गुफाओं में उज्जैन के कुछ ब्राह्मण लोग पैदल का जमाना था ऐसी कारें बसें नहीं थी वो जमाने कठिनाई देखा कि वो साधु अरे भरती राजा भरतरी महाराज महाराज राजाधिराज महाराज अंदाता गणी खम्मा ब्राह्मण लोग उज्जैनी से आए हो बोले महाराज ब्राह्मण तो दक्षिणा प्रिय होते हैं महाराज हो जाए ब्राह्मणों की सेवा बोले अब तो हम फकीर बन गए बोले हमारे लिए तो आप राजाधिराज हैं भोजपत्र लाओ लिख दिया इस ब्राह्मण को मनोवांछित दक्षिणा देकर संतुष्ट करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा मुझे मेरे मंत्रियों पर भरोसा है जिनको मैं राज दे आया हूं चिट्ठी देखकर ब्राह्मण दंग रह गए कि हमारे महाराज सब कुछ दे गए एक ब्राह्मण को संतुष्ट करना क्या बोले अभी रात हो गई है आप ब्राह्मण सुबह आना सातों खजानों खोल के रखेंगे चांदी के सिक्कों का खजाना होगा अशरफियों का होगा मोतियों का होगा मणियों का होगा हीरों का जवाहरात लाल वहाँ आप चलेंगे जितना उठा सकेंगे वो आपका ही हो जाएगा एक से एक खजाना कीमती देखा अब सबसे ज्यादा कीमती तो हीरे हीरे भी उठाएंगे तो एक मन उठाएंगे आधा मन एक पूरा गोदाम हीरे मोती जवाहरा जो भी खाने सोचा कि सात गोदामों में से एक गोदाम में से कुछ भी उठाना है और मैं कितना उठाऊंगा फिर ले जाऊंगा तो उसकी रक्षा के लिए चोर डाकू ये वो जिनके पास इतनी फौज और इतने खजाने वो छोड़कर जो चीज पाने को ले चले गए मैं वो चीज पाता कि ये वो जो उल्टी करके छोड़ गए उसी में से थोड़ा सा उल्टी का सब मसाला नहीं थोड़ा सा लेकर मैं खुश हो जाऊं मुझे धिक्कार है क्योंकि संत के दर्शन का पुण्य होता है बुद्धि में सोच विचार बढ़ते संत का दर्शन व्यर्थ नहीं जाता संत के दर्शन से पुण्य होता है कि हम बेवकूफ हो रहे हैं संसार में पच रहे हैं बैल हो रहे हैं गाय हो रहे हैं मंकी ब्रांड हो रहे हैं बुद्धि खुलती है तो ऐसा लगता है जैसे बंदर उछल कूद के खा पी के बच्चे पैदा करके मर जाते हैं ऐसे ही हम मन की ब्रांड हो रहे हैं बैल हो रहे गाय बछड़े जैसे क्या जिंदगी उसको बोला कि हमने सात खजाने देख लिए मेरे को चिट्ठी वापस दे दो ले जाओ कुछ भी नहीं नहीं क्षमा करो चिट्ठी वापस लेके ब्राह्मण फिर चला हरिद्वार को लांगते हुए वहीं नीलकंठ की घाटियों झाड़ियों गुफाओं में भरतरी को मुश्किल से खो जाओ बैठे थे चुप रहने से जीवन शक्ति का संचय होता है शांत चुप एकांत मैं आबू की गुफा में रहता था मेरे पास में डेढ़ सौ दो सौ मीटर दूरी पर एक गुफा में माई रहती थी योग माया उसकी उम्र अभी अभी उसका शरीर शांत हुआ एक सौ अड़तीस साल जी वो कम बोलती थी बहुत कम खाती थी जो खाते हैं बोलते हैं भटकते हैं उनका एनर्जी खर्च होता है 138 साल अभी शरीर शांत हुआ तीन चार साल हुए नीता उनको देख के आई थी कई बार नीता वैद्य तो जो कम बोलते हैं मौन रहते हैं तो श्वासोश्वास की गति भी कम खर्च होती शांति और माई को साक्षात्कार था ब्रह्म साक्षात्कार मुझे बड़ा स्नेह करती थी मैं घूमता घामता घूम उधर जाता कि हाँ क्या हाल चाल है माता जी फिर बैठता फिर उसने मेरे को बताया कि हम बद्रीनाथ में रहते थे बर्फ पड़ती थी तब भी, भी हम मैं वहीं रहते थे तो जब पट खोलने वाले थे तो गंगोत्री जमुनोत्री से तीन साधु आकाश मार्ग से उड़ के आए तो उनको देखने के लिए बाजारें बंद हो गई ऐसे रिद्धि सिद्धि वाले बाबाओं को भी देखा और भी अपने अनुभव बताती थी ये सब हो सकता है हनुमान जी उड़ते हैं ऐसे साधु भी उड़ सकते मैं भी साधना किया तो उड़ने जैसा हो रहा है फिर मैं क्या छोड़ो दो हजार रुपया जहाज में देके आराम से उड़ सकते हैं तो ये उड़ने की शक्ति काय को उसमें साधना क्या करना हुँ? हम्म? हुँ। हम्म। महाराज ये चिट्ठी आपकी बोले क्यों नहीं लिया बोले महाराज आप सब कुछ छोड़कर जो चीज पाने को यहाँ आए हैं नीलकंठ की शांत एरिया में एकांत में कहीं विचरण करते हैं गंगा किनारे हमें वही दीजिए और आपने ये सब क्यों छोड़ा वो ज्ञान भी दीजिए और छोड़कर जो चीज पाने को आए उसका भी स्वाद चखाइए हमें आपके हीरे जवाहरात जो आप उल्टी करके आए वो हमको नहीं चाहिए भरत जी खुश हुए कि दस बीस करोड़ के हीरे छोड़ दिया ना दस बीस पचास करोड़ की चीज छोड़ दिया ना पुनः उठाता तो दस बीस पचास करोड़ के हीरे हो जाते आज तो जो बरों को दस बीस लाख दो चार पांच करोड़ मिलते तो खुश खुश हो जाते बापू की बड़ी कृपा है अरे बापू जो देना चाहते हैं वो भी लेना है ना खाली दस पाँच करोड़ रुपया कमा उन बैलों को ऐसे ही होता है साक्षात्कार की इच्छा वाला तो बोले देखो ब्राह्मण गुरु की सेवा साधु जाने तुम साधु बनो गुरु की सेवा करो बोले महाराज मेरा सौभाग्य है आपने मुझे अपना माना इतना विश्वास मुझे अपनी सेवा देंगे आज्ञा करिए बोले वो सामने देखो पहाड़ी पर बसती है ना वो धुआं धुआं हो रहा है हाँ हाँ महाराज वो है चूल्हे जल रहे हैं वहाँ से जरा दही भिक्षा में ले आओ अब पहाड़ दिखता तो यूं है लेकिन चलते चलते तो महाराज यहाँ से ऋषिकेश के पहाड़ दिखते और टिहरी से बद्रीनाथ और केदारनाथ के पहाड़ दिखते हैं अब मेरा आश्रम है वहां से बद्री केदार दिखता है वो रहा लेकिन चलते चलते जाओ तो चार दिन लगेंगे छः दिन लगेंगे उसको कितने ही लाख लगे और पहुंचा तो वो मालधारी थे भेड़ गाय लेके चलते कहीं रहते झरने के नजीक दस पाँच पच्चीस पंद्रह परिवार फिर आगे चल जाते उन्होंने कहा भाई दही तो अब देखो तुम संत के लिए लेने को आए तो वापस मत जाओ अभी हमने दो कर जमा दिया है आठ घंटे लगते मैदान में चार घंटे में दही जम जाता है तो पहाड़ों में आठ दस घंटे लगते तो तुमको आते आते दस बीस घंटे हो गए होंगे वापस नहीं जाओ कुछ खा लो नहीं बोले ये गुफा है संत की उधर जाके बैठो थोड़ा ध्यान व्यान करो फिर दही लेके जाना अब गुफा में बैठे ओ तो गुफा में पूर्व काल में किसी संत पुरुष के वाइब्रेशन थे और भरतरी ने भी थोड़ा क्या उसकी समाधि लग गई इस बात को मैं मानने को बिल्कुल निसंदेह हूँ क्योंकि आबू की गुफा थी मेरे गुफा के पास में खाली गुफा पड़ी रहती थी उसका नाम रख दिया हमने शंकर गुफा अंडा खाता दारू पीता मनहर पोस्ट बाबू तार करते थे खट खट खट खट पहले उसको मकान नहीं मिल रहा था तो आशीर्वाद लेने आया सूरज उगा उस समय पहुंच गया था मैं क्या अच्छा जरा गुफा में बैठो फिर बात करते तो मैं तो नहाया धोया ये घुमा घामा तो सात साढ़े छः का आया दस बजा तभी भी बैठा है ऐसे करते करते शाम के पाँच बज गए उठा ही नहीं लेटा ही नहीं खाया पे फिर मैंने उसको बोला है मनहर मनहर बोले क्या जैसे सुबह का लाल सूर्य था वैसे ही शाम का लाल सूर्य वो ध्यान का धनी अंडा और मांस खाने वाला व्यक्ति भी स्थान के प्रभाव से ऐसा हुआ वो मैंने अपनी आंखों से देखा और तुमको पता है कि बापू जानते हैं झूठ बोलने से तपस्या नाश होती है प्रभाव नाश होता है बापू झूठ से परहेज करते हैं मेरे सभी शिष्यों को तसल्ली के बापू जी झूठ बोलने से परहेज करते हैं झूठ नहीं बोलते हैं ये तो बड़ा झूठ है हो ही जाता है थोड़ा बहुत लेकिन सावधान हो जाता हूँ मैं झूठ नहीं बोलता हूँ इससे बड़ा कोई झूठ ही नहीं है क्योंकि कल युग में झूठे संसार में है तो कुछ न कुछ हो ही जाता है फिर भी जब सावधानी होती तो बच जाते हैं हाँ भाई ये मैं अपनी ओर से खाऊँ लिखा हुआ नहीं मेरी मिलावट है ऐसा करके हम थोड़ा संभलते रहते हैं झूठ से हम परहेज करते हैं झूठ नहीं बोलते ऐसा दावा करना बड़ी झूठ है नारायण नारायण नारायण तो तो बैठा तो बैठा एक दिन दो दिन तीन दिन बीत गए वो हमारा अंडा खाने वाले को पूरा दिन बीत गया तो ये ब्राह्मण देवता को तीन दिन बीत जाए तो आपको संशय नहीं करना चाहिए तीन दिन बीते कुछ काफी समय बीत गया कथा मिले उठे तो देखा कि वो गांव कहाँ गया हाँ मालधारी थे झोंपड़ी झोंपड़े बनाए थे तो चल दिए दही तो दही की जगह पे रहा गाँव ही गायब ये सब क्या वापस आए बोले महाराज ये क्या बोले ऐसे ही है संसार जहाँ बस्तियाँ हैं वहाँ उजाड़ जहाँ उजाड़ है वहाँ बस्तियाँ संसार सपने की नहीं है ऐसा समझ के मैंने राज छोड़ा दही नहीं लेना था तेरे प्रश्न का उत्तर देना था और क्या चीज पाने के लिए छोड़ा है आत्मविश्रांति उसकी झलक तेरे को मिली देखो कितना समय बीत गया तो आत्म वैभव है आत्म सुख है भगवान नारायण देव देवशैनी एकादशी से लेकर प्रबोधनी एकादशी देवजगी एकादशी चार महीने उसी ध्यान समाधि में रहते उसी में ब्राह्मण ने कहा महाराज मैं वो हीरे मोती लेता तो उसको संभालने और भोगने में अल्पायु होके खत्म हो जाता चिट्ठी वापस लेके आया तो असली हीरे का द्वार भी आपने दिखाया आभारी हूं कृतज्ञ हूं इसमें करना नहीं है केवल वासना हटी घटना घटी वासना हटी दुनवी तो घटना घटी नींद में क्या करना पड़ता है मुझे नींद आए नींद आए ऐसा विचार भी हट जाता और नींद आ जाती ऐसे ही है यहाँ बहुत आसान है कठिन नहीं करके सुखी होने की आदत मिटाने के लिए सेवा करो तो वो भोग की वासना कर्म योग में आ जाएगी फिर मौका मिले तो उच्चारण करके ध्यान करो तो चंचलता मिट जाएगी गुरु का सानिध्य और सेवा से उनकी दृष्टि से उनके संकल्प से ना समझी की पढ़ते हटती जाएगी साक्षात्कार ग्रेजुएशन में तो बहुत साल चाहिए बहुत मेहनत चाहिए इसमें ऐसा नहीं है गुरु की सेवा साधु जाने गुरु सेवा क्या मूड बिछाने और कहा तो पत्नी मर गई उसके पीछे रो रहे थे और, और कहा राजा भरतरी हो गए अभी भी अमर जोगियों में भरतरी का नाम राजा भरतरी उनका भांजा गोपीचंद उसको भी साक्षात करोगे तो सोलह साल का था कई रानिया पिता मर गए राजकाज संभालना अपनी रानियों के साथ होली की पिचकारियां जो कुछ खेल खेल होता है माँ ने देखा कि बेटा तो रानियों के मौज मजा में अल्पायु हो जाएगा मर जाएगा हे भगवान तू अपना रंग लगा इसको माँ की प्रार्थना से कोई घटना घटी है गोरखनाथ के किसी संत के चक सत्संग में आया राजपाट छोके फकीर हो गया बोले ऐसे हम फकीर नहीं बनाएंगे लोग बोलेंगे राजा को बहका दिया जाओ अपनी माँ से भिक्षा ले आओ लंगोटी धारण करके तो रानिया रोए पति देव पति देव गुरु का स्मरण करा तो पति की जगह पर दूसरा पुरुष देखे <laughs> बैठ जाए मैं माँ के महल में गया भिक्षाम दे माँ ने देखा कि कहाँ मेरा विलासी बेटा और कहाँ फकीर वाह मेरी कुख पावन हुई ऐसी समझदार माताएं भी होती थी बेटा जोब कर तू बैल बन गाड़ी खींच और हम आराम ऐसी माँ नहीं हमारा क्या होगा बुढ़ापे में क्या होगा ऐसे स्वार्थ को रोने वाली माँ नहीं थी माँ ने तीन चावल डाल दिए बोले मैया भिक्षा में तीन चावल बोले बस बहुत हो गया बेटे माँ में समझा नहीं बोले एक चावल का अर्थ है कि तू बेटा सदैव मोहन भोग पाना बढ़िया से बढ़िया भोजन मिलेगा तुझे माँ फकीर हो रहा हूँ भिक्षा मांग के बढ़िया से भोजन अरे बोले बहुत भूख लगे तब टुकड़ा मांगना अब भूखे व्यक्ति को रूखी रोटी भी बढ़िया हो जाती बेटे ये मेरा वरदान है तुझे तुझे मोहन भोग मिले मतलब माल मदीदे हैं भूखे को दूसरी बात है तू सदा सहजा पर सोना सहजा पर सोना मैया राज छोड़ दिया अब सहजा कहा अरे बोले ध्यान भजन सेवा करके थकेगा ना तो जहां सोएगा चट्टान पर वो भी सहजा हो जाएगी बड़े लोगों को बखमल पे भी नींद नहीं आती और हमारे आश्रम के बच्चे तो जहाँ लेटेंगे जाए खुदा खैर करे बंदा लहर करे मैं रात को निकलता हूँ उनको मच्छर लगते तो उनको परवाह नहीं मैं फिर उनको जरा ढक टूकता उनके मच्छर भगा लेता हूँ कभी कभी चक्कर मारता हूँ आज सुबह भी उठा तो कई सो रहे थे फिर आज तो ज़्यादा गहर बैटरी बैटरी नहीं थी एक जगह था बंदा बाकी सो रहे थे तीन साढ़े तीन बजे थे छत पे सब सो रहे थे तो वहाँ चक्कर मार के आ गया फिर मैं अपना ध्यान में तो जब खूब नींद आए तो जहाँ सोया सह जा और तीसरा चावल है बेटे किले में रहकर युद्ध करना माँ राजपाट और मिलिट्री छोड़ के जाता हूँ किले में अरे बोले गुरु की आज्ञा में ही जहाँ जाओ तो गुरु को पता होना चाहिए कि यहाँ है गुरु की वहाँ छत्तर छाया होती है मन माना कहीं चल दिया तो फिर मन हावी हो जाएगा गुरु की आज्ञा के बिना तुम कहाँ हो गुरु के ध्यान में रहना चाहिए गुरु से नजर बजा के जो लोग भाग जाते हैं इधर वो तो आवारा होते हैं लुफंगे मन के कहने में जो चालबाजी करे वो सब लुफंगे होते हैं गुरु की छाया में रहना लुफंगा मत रहना सुरेश कहाँ है सुरेश वापिस